भाइयों और बहनों मेरे सामने चीज़ें तो काफ़ी पड़ी है उसमें से जो आज ही मुझको चुननी चाहिए उसको मैंने चुन ली है और वो भी छह चीज़ें कहाँ तक मैं पहुँचता हूँ पंद्रह मिनट में वो देखता हूँ एक बात तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ी देर समझ हो गई है वो हमें नहीं चाहिए थे कि वो सुशीला बैंक वहाँ चली गई है भावलपुर में भावलपुर में जो जो दुखी आदमी है उनके देखने के लिए उसको दूसरा तो कोई अधिकार ही नहीं न हो सकता था तो उसने तो एक रेंज एम्बुलेंस की या तो रेंज सर्विस मित्र लोग अपने को कहते हैं वो वो तो सबके मित्र ही तो मेरे भीतर तो है उसको भेजने का मैंने इरादा किया था कि वो वहां चली जाए तो वो उसका नाम निशनिकर बड़े सज्जन पुरुष है तो उन्होंने कहा कि मैं जाना है जाने को तैयार हूं दूसरा वो करना नहीं चाहता था तो वहां जाए देखे लोगों से मिले और उसको बता दिया उस वक्त तो सुशीला को जाने की बात नहीं है लेकिन जब उस सुशीला बहन ने सुन लिया और उनको वो पहचानती थी उसने सुशीला बहन ने वो जब नौखाली में थी तो इन लोगों मित्रों के साथ काम किया था तो मित्र लोग भी उनको पहचान गए थे उनको चाहते थे और आखिर में बहुत कुशल डॉक्टर तो है और पीछे है तो पंजाब की गुजरात की और उसने उसने उसने तो माने उसका कबीला ने काफ़ी धन कमाया है उसके पास काफ़ी जायदाद थी वो कुछ रही नहीं है फिर भी उतने दिनों में कोई शहर पैदा नहीं हुआ है तो उसने मुझको कहा कि अगर इजाज़त दे दो तो मैं वो क्रॉस साहब के साथ चली जाऊं क्यों तो उसने कहा कि मैं तो पंजाब की बोली बोलती हूँ हिंदुस्तानी तो बोलती हूँ उर्दू इंग्लिश जानती है तो मैं वहाँ जाऊँगी तो फरोज साहब को मदद दे सकूँ तो मैं तो खुश हुआ वहाँ जाने में कुछ खतरा तो रहा था वहाँ तक कैसे जा सकती वो सब ठीक चीज़ चीज़ें तो उसने कहा कि मुझको क्या खतरा है वहाँ पंजाब में बहुत लोग मर गए हैं बिल्कुल मीट हो गए हैं मेरा तो ऐसा तो है ही मुझको खाना पीना तो मिल जाता है ईश्वर वो सब करता है तो मैं तो कोई खतरा को समझती नहीं हूँ और आखिर में खतरा था तो नफा भी क्यों था तो उसने कहा कि मुझको भेज सकते हैं और प्रास साहेब भी पसंद करें तो मैंने प्रास साहेब को पूछा कि आपको आपकी मदद में सुशीला बहन को भेजूँ तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा सुख में वो हिंदुस्तानी जानते नहीं तो किसी के मार्फत वो बात कर सकते थे वो लोग वहाँ पड़े हैं वो भी कोई उसको थोड़े जानने वाले थे लेकिन हर में वो मित्र वर्ग में से हैं वो एक बड़ी भारी चीज़ हो जाती है और पीछे वो मित्र वर्ग में भी रेड क्रॉस काम करते हैं रेड क्रॉस के मानी इतना है कि वो मरीजों को मदद करना जो जो लड़ाई में मरीज हो जाते हैं तो बेशा अभी तो उन्होंने सिलसिला बढ़ा दिया तो दूसरों को भी ये काम उनका रहा तो उसको उसको बड़ा अच्छा लगा मैं शांति था तो उसने कहा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है तो इसमें कहो मुझको कि वो डॉक्टर सुशीला के साथ क्रॉस साहेब गए हैं कि क्रॉस साहेब के साथ डॉक्टर सुशीला गई है वो सीधा प्रश्न हो जाता है वो कोई ऐसा पेचीदा है ही नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरों को चाहते हैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं किसी को कुछ वांसिक चाहिए किसी को कोई अधिकार तो है ही नहीं अधिकार के लिए गए नहीं है सेवा भाव से ही गए हैं और उसको दूसरा भी नहीं करना है जो वहाँ देखे वो आकर मुझको बताना है इतना ही काम तो इतना ही समझ लेना सबको समझना चाहिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कोई भी ऐसा गुमान रखेगा हाँ, वो तो डॉक्टर सुशीला बड़ी है तो उसके साथ क्रॉस साइड जाते हैं ऐसा भी करें उन दोनों में तो ये भाव नहीं है कि कौन मीठा और कौन मीठा लेकिन वो ऐसे हैं ना क्रॉस है और दूसरे वहाँ का तो है कि औरत है तो औरत को आगे करो तो इसलिए वो तो हमेशा सोचे अब इनका नाम लेते हैं अपना नाम तो भुला रही हूँ तो मुझको तो ऐसा नहीं चाहिए मैं तो उन्हीं का मित्र हूँ दूसरी लड़की का बाप हूँ तो मुझको क्या करना चाहिए तो मैंने सोचा था आप लोगों को मैं खेलूँगा ऐसा कोई गुमान न करें वो वहाँ से दोनों जब आएंगे जब आवे तब बहुत वहाँ से लाएंगे ऐसा कहे लेकिन फिर मैं कहूँ कि कम से कम मुझ पर तो नॉर्थ साहब लिखते रहते हैं मुझको क्या हक है मानने का वो सब झूठ कहते हैं और मुझको झूठ लाते हैं तो वो सब ऐसा होता है आखिर में कि तो जो नसीब में होगा वो होगा भावलपुर के भाइयों का लेकिन भावलपुर के भाइयों को भी मैं समझा दूँ कि वो जो कौन गए हैं कैसे गए हैं उसमें कौन मोटा कौन छोटा अगर है तो।, तो अभी तो दो एक सच हैं तो उसमें मैंने आपको आपकी पाँच मिनट दे दी मुझको दिन ही चाहिए सब चीज़ की ढाई ढाई मिनट तब मैं पंद्रह मिनट में ख़त्म करता हूँ अभी बनने के भाई लोग मेरे पास आ गए थे तो उसमें कोई हो गए चालीस साल परेशान तो है ऐसे नहीं है तो चल नहीं सके किसी की उंगली में कुछ घाव लगा है कि इसको कहीं इसको कहीं तो मैं तो उनको मैंने तो उनका दर्शन किया इतना ही कर सकता था मैंने कहा कि अभी आप उसकी ही बात करें और जो कुछ भी आपको कहना है वो कह दें इतना समझ लें कि मैं वो भूला नहीं इस बारे में जो कुछ भी हो सकता है तो कर रहा हूँ बड़े आदमी हैं भले आदमी हैं नहीं तो उनको तो गुस्से से ही भरे हुए होने चाहिए ना लेकिन मैं उनकी बात मान गई विश्व का शय करें कि उन्होंने उसको लिख कर दिया है लेकिन उसमें एक भाई थे वो वो शरणार्थी थे क्या नहीं उनको मैंने पूछा नहीं उसने कहा कि जी तो तुमने तो बहुत खराबी तो कर ली है और अभी भी खराबी नहीं करते रहोगे क्या उससे बेहतर है कि अभी तो जाओ बड़े तो हैं महात्मा भी हैं लेकिन महात्मा होते हुए हमारे काम की क्या है हमारा काम तो आप बिगाड़ ही रहे तो हमको छोड़ दो भूल जाओ और बस तुम भागो जैसे से कहाँ जाऊँ मैं हिमालय जाओ तो पीछे मैंने कुछ उनको डांटा वो तो कोई मेरे जितने बुजुर्ग तो नहीं है बुजुर्ग जैसे तो लगते हैं तकड़े हैं मेरे जैसे पांच सात आदमी को तो वहीं चूर कर सकते हैं तो मेरे जैसा आदमी घबराहट में तो पड़ जाए लेकिन मैं तो महात्मा रहा आखिर में घबराहट में पड़ूँ तो भी मेरा क्या हाल होगा तो उन्होंने तो उसको थोड़ा हंसकर कहा तो और बिगड़े कि नहीं तुम्हारी जाना चाहिए तब मैंने कहा कि आपके कहने से मैं जाऊँ कि किसकी बात की सुनो कोई कहते हैं कि हिमालय जाओ कोई कहते हैं यहाँ रहो कोई तारीफ करते हैं कोई डांटते हैं कोई गाली देते हैं तो इसमें किसका माने तो मैंने एक तय किया है कि मुझको ईश्वर हुक्म करेगा या तो मैं कहो ईश्वर को नहीं मानता हूँ ऐसा मैंने आप तो इतना तो करें कि जो मेरा दिन कहे वो मैं करूं तो उसने कहा कि तुम्हारा दिन कौन और परमेश्वर कौन परमेश्वर तो हम हैं तो और भी उनको सुनाया कि आप परमेश्वर हैं तो पीछे परमेश्वर बेचारा चाहिए कहा अगर आप परमेश्वर बन जाते हैं तो और ईसाई करते रहे कि हम परमेश्वर हैं एक तरह से ठीक है तो पंच बोले सो परमेश्वर तो हम तो दुखी हैं तो दुखी का देवी परमेश्वर है लेकिन दुखी खुद परमेश्वर है ऐसा तो मेरा देवी मानता है और पीछे मैंने आस्ते से झेल लिया कि आप ही दुख पाते हैं कि मुझको भी कोई दुख होता होगा जब मैं दावा करता हूँ कि जो एक बहन है तो मेरी सभी बहन लड़की है तो मेरी सभी लड़की है इस तरह से मुझको दुख होता है तो आप ऐसा क्यों मानकर बेच रहे हैं कि मैं तो आपके दुख में कोई हिस्सा ही लेना नहीं चाहता हूँ और मैं हिंदू का सिख का दुश्मन हूँ और मुसलमानों का दोस्त हूँ ऐसी आप न माने वो तो मैं अभी थोड़ी बढ़ाकर बात आपको कह रहा हूँ क्योंकि लेकिन मेरे दिल से भाव है तो ऐसा मैंने कहा तो जो लोग क्योंकि दूसरे भी आदमी वो तो बेचारे मुझको साफ साफ मेरी जबान पर कह दिया कोई लिखते हैं मुझको ऐसा वो गालियाँ के साथ लिखते हैं कोई विवेक से लिखते हैं लेकिन कहते हैं कभी बहुत हुआ तुमने बहुत किया अभी हमको छोड़ दो हम जाएंगे दोजक में तुमको क्या पड़ी है लेकिन तुम यहाँ से भागो लेकिन ऐसे में कोई से भाग सकता हूँ किसी के कहने से मैं खिदमतकार नहीं बना किसी के कहने से मैं खिदमतकार मिट नहीं सकता हूँ ईश्वर के कहने से अगर वो मानो तो मैं जो हूँ वो बना हूँ ईश्वर मुझको उठा देगा तो मुझको दीवाना बना सकता है मुझको मार डाल सकता है मुझको ऐसा दर्द देता है कि मैं निकम्मा जाऊँ वो सब ईश्वर को करना है तो करेगा लेकिन जब मैं समझता हूँ तो मैं करता हूँ और खुद सी बात है कि वो वही फाइल को तो डांटा दूसरों ने तो मुझको डांटा नहीं उसने तो देनी भी थी तो वो आए तो कुछ ऐसा भी था ना कि वो कुछ करेगा तो इस तरह से मैं क्या करूं वो एक बात हो जाती है तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको कह तो दूं कि हिमालय में क्यों नहीं जाता मुझको तो पसंद पड़ेगा हिमालय जाऊँ तो तो मुझको कोई मैं खाना नहीं देंगे इसे थोड़ा है मुझको खाना मिलेगा पीना मिलेगा मिलेगा ओढ़ने का मिलेगा वो ठंड में कोई मुझको बंद देने वाले पड़े नहीं है तो वहाँ जाकर तो मैं तो शांति लूँगा लेकिन मैं तो उस शांति में रहना है मैं तो इस अशांति में सिर्फ शांति मिल सकती है तो लू और नहीं तो उस अशांति में मर जाऊँ वो मुझको प्रिय है मेरा हिमालय तो यहाँ है आपके बीच में आपके बाहर नहीं आप सब जब हिमालय चलेंगे तो मुझको आप लेते जाएंगे वो दूसरी बात है अभी अभी मेरे पास शिकायत आती है वो सही शिकायत शिकायत है कि यहाँ वो वो शरणार्थी लोग पड़े तो वो उसकी हिफाजत तो जो हो सकती है वो करते उसको खाना देते हैं पीना देते हैं पहनने का भी देते हैं लेकिन कुछ कह भी देते हैं तो उनकी खिदमत करते हैं उन लोगों ने मुझको लिख कर दिया लंबा छोड़ा उसमें से मैंने इसका निकाला वो कहते हैं कि वो मेहनत करना नहीं चाहते कुछ भी काम करो तो नहीं मैंने तो कह दिया कि तो अगर वो जो दुखी है वो दुखी मिट जाना चाहते हैं और सुखी बनना चाहते हैं दुख में से सुख निकालना चाहते हैं और दुख में से हिंदुस्तान की सेवा करना चाहते हैं तो अपनी भी हो जाती है तब उनको काम करना ही चाहिए ऐसा अगर सब कहते रहें कि तो हम तो काम नहीं करिए हमको खाना दे दो तो मैं कहता हूँ आपको कि ऐसा जो दुखी है उसको भी वो हक नहीं है ईश्वर ने हमको बनाए हैं ऐसे कि मोट शोक करो और खाओ ऐसा नहीं तो ईश्वर ने तो ये कहा है गीता ने ये फरमाया है कि यज्ञ करो और खाओ यज्ञ करो और उसमें से पीछे बाकी रह जाता है शेष भाग ले जाता है उसको खाओ तो वो कोई मेरे लिए हुक्म है और आपके लिए नहीं है ऐसा नहीं है सबके लिए जो दुखी हुए हैं उनके लिए किसी को उसमें हुक्म नहीं है कि एक आदमी कुछ करे नहीं हो खा कर बैठा है करोड़पति कष्ट करे कर सकते तो वो तो निकम्मे है जो करोड़पति काम न करे वो खाना ही चाहते हैं और इधर उधर से ले लिया और पैसा इकट्ठा करते हैं वो पृथ्वी पर भाव है लेकिन जो आदमी कैसा भी दुखी हो मेहनत करके ही खाएगा नहीं तो कहेगा कि भूखों मरूंगा लेकिन नहीं करूंगा ये बात दूसरी तो है कि लाचार बन गया है कुछ उसके हाथ नहीं चढ़ सकते पैर नहीं चढ़ सकते ऐसा बीमार पड़ गया है अंधा बन गया है वृद्ध हो गया है चल नहीं सकता है वो उसको हम देखाना वो तो उसको तो ईश्वर हमेशा देता ही रहता है लेकिन जो पकड़े पड़े हैं वो क्या वजह है कि कहीं के नहीं को खाना दो हम काम क्यों तो नहीं करें अरे जिस कैंप में पड़े हैं तो वहाँ पे खाना भी साफ तुम्हारे करना चाहिए चरखा चलाना है तो भी तुम्हारी चलाना है कोलारी उठाना है जो कुछ भी है जो काम कर सकते नहीं कर सकते हैं वो सिखा दे लड़के पढ़े उनको सिखा दे लेकिन लड़के सिखा दे तो कहें कि नहीं वो तो वो तो कैम्ब्रिज में सिखाते ऐसा हम सिखा सीखो हम तो मैं तो कैम्ब्रिज में सीखता था या तो मेरा बाबा कैम्ब्रिज में सीखा था इसलिए उसको कैम्ब्रिज भेजें तो, तो काम नहीं करता लेकिन जो शिक्षा उनको दे सकते लड़कों को देनी चाहिए लेकिन लड़कों को पैसे तो, तो काम तो दे इस तरह से मैं कहूँगा कि उन लोगों को काम करना ही चाहिए जितने ही शरणार्थी ये न कहें कि हमको काम नहीं करेंगे खाएंगे अभी किसान राज की बात है मेरे पास एक सज्जन आ गए मैं जो भूल जाता था वो वो कहते हैं कि वो मैंने तो कह दिया था ना कि मेरी सगे तो हमारा गवर्नर जनरल वो किसान होगा मेरी सगे तो हमारा हमारा बड़ा वसील भी किसान और मेरी सगे तो सब की सब किसान क्यों कि तो किसान है मुझको तो बचपन में सिखाया था तो उसने उस कविता है ये सिखाया हे किसान तू दुनिया का बादशाह है सच्चा है क्योंकि वो जमीन को तो मेरे से पैदा तो वो करता है वो पैदा नहीं करे तो हम भूखों मरने वाले हैं तो इसलिए उसको राजा बनाया और हिंदुस्तान में तो सचमुच राजा